नहीं आया यहाँ बैठो मत तुम यहाँ दिखो हमको तो भाई पदान विज्ञान होता है पद पद होता है जो धातु बन गया गच्छ जो पद और गच्छ या बल पूरा जो पद है उसका एक टुकड़ा जो है वह तो शब्द रूप बन गया तो पद बालक से पद है बालक अपद बाल अपद समझ गए तो शब्द रूप तो बनता है उसका नाम सुबंध पद होता है और जिसमें तिप्तसी रखते हैं उनका नाम तीनंत पद दस लकारों के जो हैं उनका नाम तीनंत पद और जो प्रथमा से सप्तमी तक के रूप है उनका नाम सुबंध पद और जिसको कहते हैं कौन है प्रतिभा से करके और कौन है दसों दूसरों भाई साढ़े तीन बजे कोई घंटी अभी बजेगी तीन पच्चीस पर हर आदमी यहाँ अपने आप आएगा जो तो नहीं आएगा तो रात भोजन नहीं देगा उसको रात में भोजन नहीं देंगे कोई किसी के लिए घंटा नहीं बजाएगा शशांक तो नहीं आए तुम जो बुलाना पड़ता है तुमको तुमको सब घबरा लो और एक तारीख को सबको बधाई समारोह कर देते जाओ सब उसको और वही अपना काम करेंगे हाँ हाँ तुमको तो अंदर जाने ही पड़ेगा यहाँ तुम क्यों बैठे मैं जाती नहीं तुम जाओ दोनों बच्चे हो आज मैं नंदिया नहीं गई तुमने कुछ सुन लो पहले हमारी बात जो तुमने ग्रुप बनाया था कारों के उसका नाम है तिंगन तत्व लच्छा जी और रामा रामो रामा का नाम है सुबंत और दो होते हैं सुबंतम तिंगंतम से शुभ तिंगंतम पदक और इनका एक भाग होता है उसका एक टुकड़ा किया उसका नाम अपद तो अपद ठीक है देखो प्रिया हम लगातार तुम्हें बुला रहे हैं हम हमारे सामने खड़े होते तो हम बुलाते हैं आप हमारे सामने एक सेकंड का आगे बढ़े उसको रोक कर एक सेकंड हमारे सामने खड़े होते दोनों बच्चों को देखो पिछले साल भी आए हैं उनको पकड़िए भाई अपना काम करिए भाई पानी दीजिए पदान अपदान आओ अपदान आओ घस अकेले घस छोटावो अपदान स्वपादो भूमु पुनः अरे गुना आहे ओ तो पर रुक जाए हवन आ के बाद वारमा होंगे तो तो दिन को जल हो गया पदान अंग जल भगवान भवा होगा ठीक है एक होगा अंग जंत्र में तो गुण होगा कब होगा जब प्रत्येक साधा तो ये गुण कब नहीं होगा इसका बाधक कौन है अजून ये अजंत अंग होगा और आगे जितने तथ्य है तो वृद्धि हो जाए वृद्धि हो जाए वृद्धि हो जाए ठीक है और छोटा वो होगा धातु और शब का लुक हो गया तो हलाली प्रत्यय होगा सावधानी तो क्या होगा क्या होगा पंजाबी नहीं हो तो जाएगी हो जाएगी तो बोलो तो है भाषा तैयार करो और दिक्कत के लिए एक शुद्ध और है जो में अत है अत का मतलब हमेशा छोटा आवेगा है और आगे करते हैं वो Nunggu nggak dia buku ये पत्ते कैसा नहीं थे ये कैसा में इसके से पाठ पाठ कम पाठ कम बच कम चल चाल कम बाद कम समझ गए तो हिटलर के लिए दो सौ अशोनीति साधातु को आधातु के को बाध करके और ये स्वतंत्र किस किसके निकाल क्योंकि यहाँ पे प्राप्ति नहीं ये दो थे ये दो अब हो गया साधा तो का आधातु क्यों हो सुगंध नमूत्र वृद्धि अब उठाया अपनी विषय हुए उसके बाद वो उत्तर प्रत्येक रूप में आई वो लोग भाषा you know, victim. Jehovah is not. और ये के लिए हमने आपको बताया शिव साधन के गुण और नो या ये रहने का जो संयोग अति का तो भगवान बताए योग तेरह इतने से हमने आपको बता दिए इतने हो गए अब हम आपको बता रहे हैं कि यदि साधक आजादी के सार्थक तो भूगल लघु पदार्थ कैसे जो होता है वो नहीं जैसे हमने कहा नीरज नीरज आल तो यहाँ बोलना चाहिए नहीं नाभ्यस्त अचुपति सार्थक नहीं निजान नहीं निजाव ये निजानो ये निजय ये निजा वही ये निजा वही हमें निजन सात हजार कितने गुण यदि भाव अभ्यस्त अभ्यस्त मतलब जिसको अभ्यस्त आत्मधिष्ठान इसको यही से फिर तुम हो जाए आगे तुमसे आजाद के तो साथ आप हो और तुमना में लघु एक हो गुण ये तो मैं भी गुण नहीं करता ये है तो भी गुण नहीं करता और शिला साथ साथ आप गुना आप इसमें भी गुण और मृत धातु से परिरक्षण आता है तो क्वेश्चन करते हैं सारधातु है अपित है आपके थोड़े से गिद्ध हैं गिद्ध को उमदा को गुण प्राप्त था उसको पीड़ित चले रोक रखा इसको कर देगा मिलेर गुण मिल धातु को गुण होता है शिव सत्य बन इसको गुण इसको गुण हो गया और जागृत धातु जागृत धातु इसको गुण होता है कब होता है बी को छोड़ चार को छोड़ सूत्र है जागरो विचलन की जागरो लिखे यहाँ कारांत कारांत तो कारांत लिखे तो विकारांत में सूत्र जागरो विचलन की जागृत धातु को भूल दो ये चार को छोड़ ये चार में क्या होगा इनमें जो प्राप्त चिन्ह में होगा थी दिल में वृद्धि मन में वृद्धि और दुख में निषेध बाद में जो प्राप्त है वो होगा और शेष में विचार तो चार विधा प्रत्यय की हत्या प्रत्यय करेंगे किस है तो भी गुण तो को निच करेंगे निच જોગે છે નાચો નથી होना वो भी करो कितने भी गुम हो जाएगा और गलत में भी गलत में ये दो लड्डू चार लोग बिछोला कुछ हो गया उठाओ देखो उठा जागरण धातु को दो हो बीच और लाल बेच को छोड़ ठीक है और बाकी पित पत्ते में गुम हो जाएगा और अटिक में जुता है वो निषेध हो जाएगा और बाकी आजादी पिता है बाकी कितने हो जाएगा अब आप उनको बोलेंगे कितने धातु में दिए तो बनाने के लिए पंचायत बाकी लोग ठीक है और शीन शीन लौटी बने आती है और इसको बना लेना

पहले सहयोग नहीं है तो यम और सहयोग है तो अच्छी सुधा के प्रोग्राम से और अंतिम यहाँ क्या हुआ आशीष कुमार शुरू एक दो तीन चार पाँच ये यहाँ एक